भागा में स्नान करना चाहिए वहां स्नान मात्र से ही मनुष्य सोम लोक में आदर प्राप्त करता है राजन नर्मदा के दक्षिण किनारे पर उत्तम संगमेश्वर तीर्थ है वहां स्नान करने से मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है नर्मदा के उत्तरी किनारे पर अत्यंत सुंदर तीर्थ है वहां आदित्य का रमणीय मंदिर है यह स्वयं ईश्वर ने बताया है राजेंद्र वहां स्नान कर यथाशक्ति दान देने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है तथा जो लोग दरिद्र व्याधि युक्त तथा दुष्कर्म करने वाले हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं तदंतर मार्गेश्वर तीर्थ जाकर वहां स्नान करना चाहिए वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त करता है इसके पश्चात पश्चिम की ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदालय में वायु के स्थान में जाना चाहिए राजेंद्र वहां स्नान करने से प्रयत्न पूर्वक पवित्र होकर अपनी संपत्ति के विस्तार के अनुसार द्विज को स्वर्ण प्रदान करना चाहिए ऐसा करने वाला मनुष्य पुष्पक विमान के द्वारा वायु लोक जाता है राजेंद्र तदंतर श्रेष्ठ अहिल्या तीर्थ में जाना चाहिए वहां स्नान मात्र से मनुष्य अक्षय अनंत काल तक अप्सराओं के साथ आनंद प्राप्त करता है चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव का दिन है उस दिन इस अहिल्या तीर्थ में जो मनुष्य अहिल्या की पूजा करता है वह जहां कहीं भी उत्पन्न होता है श्रेष्ठ तथा प्रिय होता है और विशेष रूप से दूसरे कामदेव के समान हो जाने से स्त्री शोभा संपन्न तथा स्त्री बल्लभ होता है इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने वाला मनुष्य हजार गोदान का फल प्राप्त करता है तदंतर सोम तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है राजन तीनों लोकों में विख्यात सोम तीर्थ महान फल देने वाला है राजेंद्र वहां चंद्र ग्रहण का स्नान पापों का क्षय करने वाला होता है उस तीर्थ में जो एकाग्र मन से चंद्रायण व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो विशुद्ध आत्मा वाला होकर लोक को जाता है नराधिप जो सोम तीर्थ में अग्नि प्रवेश जल प्रवेश अथवा अनशन करता है वह मनुष्य पुनः उत्पन्न नहीं होता तदंतर स्तंभ तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अर्थात पूजित होता है राजेंद्र तदंतर परम उत्तम विष्णु तीर्थ में जाना चाहिए वहां योधनीपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान है वहां वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था अतः वह स्थान वासुदेव की पवित्र सन्निधि के कारण तीर्थ पुण्यमय हो गया है जो मनुष्य उस तीर्थ का सेवन करता है वह विष्णु के समान श्री संपन्न हो जाता है वहां एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर काम तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत सुंदर तीर्थ है वहां पर कामदेव ने शंकर की आराधना की थी उस तीर्थ में स्नान कर उपवास परायण रहने वाला मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला होकर लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है राजेंद्र तदंतर उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाना चाहिए वह तीर्थ उमाहक इस नाम से प्रसिद्ध है वहां पितरों का तर्पण करना चाहिए पूर्णिमा तथा अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए वहां जल के भीतर हाथी के आकार की शिला स्थित है उस शिला पर विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा को स्नान के अनंतर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर एकाग्र मन से पिंडदान करना चाहिए इससे पिंडदाता के पितर जब तक पृथ्वी रहती है तब तक तृप्त रहते हैं इसके बाद सिद्धेश्वर तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य गाढ़पत्य पद प्राप्त करता है राजेंद्र तदंतर जहां जनार्दन लिंग रूप में प्रतिष्ठित हैं वहां जाना चाहिए राजेंद्र वहां स्नान करने से लोक में आदर प्राप्त होता है यही एकमात्र वह स्थान है जहां नारायण देव ने भक्तिपूर्ण मुनियों को लिंग रूप में अपना दर्शन कराया था यह लिंग विष्णु रूप होने से परम पद है तदंतर सभी पापों को नष्ट करने वाले अंकोल तीर्थ में जाना चाहिए वहां किया गया स्नान दान ब्राह्मण भोजन तथा पिंड दान परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है जो त्रयंबक त्रयंबक मंत्र के द्वारा जल से चरु पकाकर उससे अंकोल वृक्ष के मूल में यथा विधि पिंडदान करता है उसके द्वारा तारे गए पितर जब तक चंद्रमा तथा तारे रहते हैं तब तक तृप्त रहते हैं राजेंद्र तदंतर उत्तम तापसेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए राजेंद्र वहां स्नान मात्र करने से व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करता है इसके पश्चात सभी पापों का नाश करने वाले शुक्ल तीर्थ में जाना चाहिए युधिष्ठिर नर्मदा में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है उस शुक्ल तीर्थ के दर्शन करने स्पर्श करने तथा वहां स्नान दान तप जप होम और उपवास करने से महान फल प्राप्त होता है देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित वह एक योजन का क्षेत्र शुक्ल तीर्थ इस नाम से विख्यात है वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है इस तीर्थ में स्थित वृक्ष के अग्रभाग को भी देखने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है वहां देवी पार्वती के साथ भर्ग तेजो में शंकर सदैव निवास करते हैं सुव्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां कैलाश से आकर हर शंकर स्थित होते हैं श्रेष्ठ वहां देवता दानव गंधर्व सिद्ध विद्याधर अप्सराओं के समूह तथा नाग रहते हैं जिस प्रकार रजक धोबी के द्वारा जल से धोने से वस्त्र स्वच्छ मल रहित हो जाता है उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ में स्नान से जन्म भर का किया हुआ पाप दूर हो जाता है वहां किया गया स्नान दान तप तथा श्राद्ध अनंत फलदायक हो जाता है शुक्ल तीर्थ सा परम तीर्थ न कोई हुआ न होगा मनुष्य पूरी अवस्था भर में किए गए पापों को शुक्ल तीर्थ में एक अहोरात्र के उपवास से दूर कर देता है कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर परमेश्वर देव को घृत से स्नान कराना चाहिए इससे मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों के साथ ईश्वर के लोक में निवास करता है कभी भी वहां से च्युत नहीं होता शुक्ल तीर्थ में जो गति प्राप्त होती है वह तपस्या ब्रह्मचर्य यज्ञ अथवा दान से प्राप्त नहीं होती ऋषियों तथा सिद्धों से सेवित शुक्ल तीर्थ महान तीर्थ है राजन वहां स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता वहां अयन चतुर्दशी संक्रांति तथा विशुभ योग में स्नानोपरांत उपवास करते हुए विजितात्मा पुरुष को समाहित होकर यथा शक्ति दान देना चाहिए इससे विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते हैं इस तीर्थ के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है अनाथ दुर्गति को प्राप्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी इस तीर्थ में विवाह कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनो उसके विवाह संपन्न कराने वाले के शरीर में तथा उसके कुल की संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्षों तक वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है राजेंद्र तदंतर परम उत्तम यम तीर्थ में जाना चाहिए युधिष्ठिर माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस यम तीर्थ में स्नान करके रात्रि में भोजन करने वाले को गर्भ के संकट का सामना नहीं करना पड़ता राजेंद्र तदुपरांत श्रेष्ठ एरंडी तीर्थ में जाना चाहिए व्यक्ति वहां संगम में स्नान कर उपवास परायण रहते हुए एक ब्राह्मण को भोजन कराए इससे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है एरंडी संगम में स्नान करके भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर मस्तक में वहां की मिट्टी लगाने से तथा नर्मदा के जल से मिश्रित उस एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है राजेंद्र इसके पश्चात कर्णाटकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए वहां पूर्ण पर्व दिन में निश्चित रूप से गंगा अवतरित होती है वहां स्नान कर जल पीकर तथा विधि पूर्वक दान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तदंतर नंद तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए ऐसा करने से उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में आदर प्राप्त करता है राजेंद्र तदुपरांत शुभ अनरक नामक तीर्थ में जाना चाहिए राजन वहां स्नान करके मनुष्य नरक का दर्शन नहीं करता राजेंद्र उस तीर्थ में अपनी अस्थियों के विसर्जन की प्रेरणा अपने परिजनों को देनी चाहिए वहां जिसकी अस्थि विसर्जित होती है वह जन्म जन्मांतर में दिव्य रूप एवं विविध ऐश्वर्य से संपन्न होता है